मर गया दसानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है घबराया हैरण करने से शरणागत की बात से बिहसे पवन कुमार बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार फिर कहने लगे विभीषण से अब क्या होगा बतलाओ तो साकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई भक्त विभीषण तनिक भेन चिंता को हो प्राप्त उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भुलाएंगे जिनको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश मनाएंगे अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर उसी समय वह पाल के आ पहुँचे उस ठाम बोल उठा बानर कटक जय श्री राजा राम फिर सबने देखा है, है यह क्या यह जागृति है या सपना है सीता माता का धोखा था यह तो रिप वधु सुनैना है यह वह है जिसका तेज देख कर चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे रावण की पुत्र वधु है यह वासुकी की प्यारी कन्या है जो आज जगत के आँखों में साक्षात बन गई करुणा है जिसने न कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए पृथ्वी का भार हो रही है सारा रामादल कांप उठा उस सत के आभा के आगे भगवान राम बेसकुचाए तेजो में प्रतिमा के आगे भक्त विभीषण रो पड़े हुए आत्यधिक क्लेश सुदबुद सारी खो गए देख सती की वेश तभी ना ने कहा कर निज पति का ध्यान तुम सबके जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान मैं आज विपत के मारे हूँ मैं दुख के आज सताए हूँ अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की आशा तो है स्वीकृति होगी विनती यह एक भिखारिन की पति ने वीरों को सुगत युद्ध में मरना समझा हमने हो के सती संसार से तरना समझा पति ने वीरों को सुगत युद्ध में मरना समझा हमने हो के सती संसार से तरना समझा शास्त्र की राह से गुजरा गए शस्त्र की राह से गुजरा है जब अपना स्वामी अग्न की राह से तब हमने गुजरना समझा अग्न की राह से तब हमने गुजरना समझा रक्त में नहाए पिया आग में हम नहाएंगी अम्बर डापे के समय मांग का भरना समझा पति ने वीरों को गति युद्ध में मरना समझाओ मोक्ष निज गोद में लेने को हम जाएंगे आत्म बलिदान अगर धर्म पे करना समझा आत्म बलिदान अगर धर्म पे करना समझाओ पति ने वीरों के सुगत युद्ध में मरना समझाओ हमने होके सती संसार से तरणा सीखा हमने ओ सती संसार से तरना समझा करुणानिध ने जब सुने करुणा के यह बे लगे भूमि को देखने तक्षण दो दो नयन सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ तुम रोते हो प्रत्यक्ष उधर मैं मन में इधर रोता हूँ दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है वह सूर वीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ लंका के राजपतोहु का इस भांति मान कर सकता हूँ असुरारी ने जब सुने यह उदार प्रिय बहन बेवल हुए सुलोचना भरे अश्रु से नयन बोली हे भानुवंश भूषण हे रघुपति रघुबर रघुराई कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्जवल है लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें पर लोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें दे देवलोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं फिर ऐसे सुगति न पावेंगी एक और भी बात है कह दूं वह असुरार भार न लगेगी शेष पे इंद्रजीत की नार लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भात पूर्ण सम्मान किया पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया माता से उसके प्राण दान ले सकते नहीं प्रमीला है दे हुए भीख क्या लेगा यदि दे सकते नहीं प्रमीला है लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान मारा है घननाद को हूँ मैं यति बलवान घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा निजपति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा परपत तो उसके साथी थे पर पत्नी जो हर लाया है बस इसे एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है मैं तो इस ओर अकेले हूँ उस ओर साथ में सीता है इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है पति का कर सर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है संकेत उसी का पाकर में संदेश उसी का पाकर में अपना धन मांग रहे हूँ तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं कीजिए बस इतना उपकार रघुकुल तिलक ललाम राम करुणा के पारावार कीजिए बस इतना उपकार झिंझरी नैया मुझ दुखिया को झिंझरी नैया मुझ दुखिया की डूब रही मझधार कीजिए बस इतना उपकार शीघ्र कृपा बल्ली से इसको करिए पल्ली पार पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाए तार इसी आस को लिए पपी ही पिपुर ही पुकार कीजिए बस इतना ही उपकार कीजिए बस इतना ही उपकार रघुकुल तिलक ललाम राम करुणा के पारावार कीजिए बस इतना उपकार कीजिए बस इतना उपकार कीजिए बस इतना उपकार